بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه फजहर हुसन फी गैर मन कसिमी या अक्रमल खल की माली मन अलूज बेही सिवा का इंदा हलूल हादिस अममी रबी सल्लि वसलम इमन नबदा अला हबीबी का खैरिल खल के कुल्ले में अल्लाह तबारक वाली जल्ला जलालू व अम्मा नवालू वातम बुरहान व आजम शान की हमदो सना और हजरूर सरवर कायनात मफखर मौजूदात जीनत बज़म कायनात मोहसिन इंसानियत उसवाए आदमियत जलवाए हक नुमा महबूब किबरिया अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालही वसहाबी वबारक वसलम के दरबार गोहरबार में हदिया सलाम अर्ज करने के बाद खाल के कायनात जल्ला जलालू का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें माह रमदान मुबारक में रोजे रखने की तोफीक अता फरमाई और अशरा रहमत का दूसरा जुमा अदा करने की तोफीक बख्शी मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू रहमत भरे अशरे का सदका सबकी झोलियों को रहमतों से मामूर फरमाए मोहतशम सामीन हजरात हमारी आज की गुफ्तगु कुरान मजीद बुरहान रशीद से मुतलक है और मौजू है मफहूम कुरआन बदलने की वारदात इससे कबल इस मौजू पर दो किस्तों में गुफ्तगु हो चुकी है और ये हमारा सालाना मौजू है और पहले दो मौजूद पर जो गुफ्तगु हुई थी अल्लाह तबारक वाली के फजल करम से उससे खाल के कायनात जल्ल जलालू ने बहुत काम लिया और उसे कबूलियत अता फरमाई और वो दोनों किस्तें किताब की शक्ल में छपकर बहसटान पर मौजूद हैं मुल्क के तूलो अर्ज में असहाब फिक्र दानिश ने उस गुफ्तगु को सुना और पढ़ा और इस सिलसिले में मजीद उन्होंने मुझसे कहा तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज उस मौजू की तीसरी किस्त आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हूं हम सबको कुरान और सुन्नत समझने समझाने और उस पर अमल पैदा होने की तोहफी कता फरमाए यकीनन जिन लोगों ने पहले दोनों खिताबात सुने हैं उनके जहन में खाका मौजूद होगा कि एक है कुरान मजीद बुरहान रशीद के तर्जमा की गलती और एक है मफहूम की गलती कुरान मजीद बुरहान रशीद का गलत तर्जमा करना जानबूझ के ये भी बहुत बड़ा जुर्म है और कुरान मजीद बुरहान रशीद को गलत पस मंजर में बयान करना और उससे अपनी मर्जी का मफहूम लेना जो कि कुरान मजीद की आयात के मुनाफी हो ये भी एक बहुत बड़ा गुना है हमारे दौर में बहुत सी फिक्री उलझनों का सबब और बहुत सी फिरका वारियत का सबब यही बात है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात को अपनी मर्जी के मफहूम के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है यानी उनका तर्जुमा तो जो लोग भी मानी है वो ही किए जाते हैं मगर उसको ऐसे पस मंजर में पेश किया जाता है कि सुनने वाला मुखातब सामे उससे वो बात अखज करे जो वो मुबलग अपनी तरफ से उसके जहन में डालना चाहता है यानी वो किताब की आयात का रुख बदलने की कोशिश करते हैं और उनके मिसदाक और से और बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से बहुत सा बिगाड़ पैदा हो जाता है इस सिलसिले में हमने पहले मुतद मिसालें पेश की है कि कैसे मफहूम पर वारदात होती है और किस कदर उस वारदात से गुमराही पैदा हो जाती है हाल के कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद को हिदायत बनाया है उसको हाथी करार दिया है और उसे हुदल्लिन्नास फरमाया है सारे लोगों के लिए यह हिदायत है लेकिन लोगों की सलाहियत इससे हिदायत वसूल करने के लिहाज से उसको देखते हुए खालके कायनात ने इसकी तारीख में ये फरमाया हुदल मुत्तकीन ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है यानी इसकी हिदायत तो सब के लिए थी आम थी मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसकी हिदायत के हसूल की बजाय खुद इसको गलत मकसद के लिए पढ़ा और गलत मफहूम निकालने के लिए पड़ा वो इसकी हिदायत से महरूम रहे और यो दिल्लो भी कसीरम व यहदी भी कसीरा का मंजर लोगों के सामने मौजूद है इस सिलसिले में आप देखते हैं कि एक गजा जो कि बिल्कुल सही है और उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं और बड़ी ताकतवर है लेकिन वही गजा अगर वो शख्स इस्तेमाल करता है कि जिसका मेदा खराब है और जो कमजोर है और उसमें उस गुर्जा को जज्ब करने की और उसकी तहलील की सलाहियत नहीं तो हो सकता है वो इतनी ताकतवर गजा उसकी मौत का सबब बन जाए और वही अच्छी सलाहियत और अच्छे जिगर और मेदे वाला इंसान इस्तेमाल करता है तो उससे उसके बदन की नश्व नुमा होती है ऐसे ही वो अद्वियात कि जो अमराज की जड़ें उखाड़ देती हैं और जिनकी वजह से अमराज अपनी मौत पर मर जाते हैं और तंदुरुस्ती जिनकी वजह से तकसीम होती है उन अद्वियात को जो गलत इस्तेमाल करता है तो बजाय सेहत के उसका मर्ज बढ़ जाता है कुरान मजीद बुरहान रशीद की हिदायत में ना कमी है ना कोई कसूर है ना कोई किसी किस्म की इसमें कमजोरी है सिर्फ जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी सलाहियत उसकी नीयत उसके इरादे और उसके दिल की जमीन का दखल है अगर वो अच्छी है उसमें सलाहियत मौजूद है उसमें कुरान मजीद से अदावत और बोस नहीं साहेब कुरान से दुश्मनी नहीं तो फिर वो इसको पढ़ता है तो हिदायत से उसके मजीद तकवे की कुवत हासिल होती है और अगर वो मकाम जहां पर ये हिदायत भरा कुरान नाजिल हुआ था उसी से दुश्मनी रख के और बुग्ज अदावत रख के कोई शख्स इसको पढ़ के इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करे तो ये कुरान उसको हिदायत नहीं बख्शता कुरान मजीद बुरहान रशीद की हिदायत अल्लाह तबारक वाली ने जो इसमें उमूम था उसको हुदल्लिनाज से बयान कर दिया और जो फायदा दिन को हुआ खाल के कायनात जल्ला जलालू ने वो हुदल मुत्तकीन से बयान कर दिया कि ये है तो सबके लिए मगर फायदा उन्हें हुआ है जिनके दिलों में या अगरचे काफिर थे मगर जिद्दी या हट धर्म नहीं थे और उन्होंने अपने आंखों से तासुब की पट्टी उतार के इसको पढ़ा है तो उस दिल में भी ये कुरान शिरायत कर गया है और वहां उस दिल में जो अंधेरा था इस कुरान मजीद की तालीमत से वो नूर का मरकज और काशाना बन गया है कुरान मजीद बुरहान रशीद की हिदायत और इसका समझना इसमें बुनियादी तौर पर मनसब नबूबत और वो मुकदस दिल जिस पर यह कुरान मजीद नाजिल हुआ है उनकी मोहब्बत और अकीदत का होना इंसान के अकीदा में और जहन में जरूरी है क्योंकि वैसे ये कुरान मजीद अपनी तमाम तर बरकतों के बावजूद हम इससे इस्तीफादा नहीं कर सकते थे अगर रसूल अकरम सल्लम का कलब अधर इसके नजूल का मकाम न बनता इसमें इतना जलाल था कि पहाड़ भी इससे रेजा रेजा हो जाते वो मुकदस दिल जिसने इसको कबूल किया इसके जलाल को बर्दाश्त किया और जमाल बना के हमें अता फरमाया हमें कुरान पढ़ते हुए उस दिल का ममनून जरूर होना पड़ेगा मोहतशम सामी हजरात कुरान मजीद बुरहान रशीद में अब देखिए अल्लाह तबारक वाली का फरमान है अफलम यसीरू फिल्लर्दी फयंजरू कई फकान आकिबतुल्लजीन मिन कबलिहिम दम्मर अल्लाह अलैहिम वलिल काफिरीन अमसालुहा ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم कुरान मजीद की इस आयत में इस बात का इनकार किया गया कि काफिरों का कोई मौला नहीं है अल्लाह तबारक बताया फरमा मोमिनों का तो मौला है और काफिरों का कोई मौला नहीं है अब सिर्फ इस आयत को कोई शख्स पढ़ता है और इससे वो ये मतलब अखज करता है कि बाकी हर चीज तो अल्लाह के मुल्क में शामिल है मगर काफिर ऐसी मखलूक है कि उस पर किसी की हुकूमत नहीं वो खाल के कायनात के मुल्क से खारिज है क्योंकि अल्लाह उनका मौला ही नहीं बाकी हर चीज का अल्लाह मौला है जमीन का मौला भी वो है आसमां का मौला भी वो है शाम सहर का भी वही मौला है और शजर हजर का भी वही मौला है मगर काफिर के बारे में खुद ही वो फरमा रहा है कि ला मौला लहुम काफिरों का कोई भी मौला नहीं तो जब वो खुद फरमा रहा है कि काफिरों का कोई मौला नहीं तो फिर काफिर अल्लाह तबारक बताला के मुल्क से बहर हुए जब काफिर अल्लाह के मुल्क से बहर समझे जाए और उनके लिए खाल के कायनात को मौला ना समझा जाए तो इससे दर्जनों खराबियां लाजम आएंगी शरी तौर पर जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अल्लाह मुबारक बताला इनका मौला नहीं है काफिरों का मौला नहीं है तो फिर इनका कौन मौला है दूसरे लफ्जों में बजाहिर यहां से ही यानी शिरक और दीगर बुतों का सारा तस्वर जो है वो पैदा हो जाएगा कि गोया के खुद ब खुद इनको धकेल के बुतों के मिल्क में दाखिल किया जा रहा है और बुतों का इनका मौला बनाया जा रहा है अब देखिए कुरान मजीद की आयत इसका तर्जमा मैंने जो आपके सामने पढ़ी पन्नल काफरीन ला मौला लहू काफिरों का कोई मौला नहीं अब ये लफज बोलना आसान है मगर इससे जो मतलब बजहिर निकल रहा है इस मतलब को संभालना मुश्किल है कि अगर उनका कोई मौला नहीं तो कौन है जो उनको खाने को देता है कौन है जिसने उनको पैदा किया है कौन है जो उनकी हाजतें पूरी करता है हल्के कायनात खुद फरमा रहा है कि मैं उनका मौला नहीं हूं तो मोहतशम स्वामी हजरात यह हमें समझ तब आएगी जब हम इसकी उसलूब को देखेंगे और जिस वक्त हम कुरान मजीद की दीगर आयात को पढ़ेंगे तो फिर हमें सही मतलब का पता चलेगा और मफहूम की जो गलती पैदा की जा रही है फिर उस गलती से हम महफूज हो सकेंगे हम माकबर को देखते हैं तो खाल के कायात फरमाता है अपलम यसीरू फिल्लर ये काफर कुफारे मक्का जमीन में सैर नहीं करते कि देखें किस तरह पहले लोगों को हिला दिया गया और किस तरह उनको बर्बाद कर दिया गया किस तरह खाल के कायरात ने उनका कोई निशान बाकी नहीं रहने दिया किस तरह वो उठे तो उनको तहो बाला कर दिया गया और जो अल्लाह को मानने वाले थे वो अमन के साथ मौजूद रहे हर के कायरात इन दो बातों को सामने रखता हुआ कहता है अल्लाह कभी मौलनदीन आमनु ये इस वास्ते हुआ काफिर मारे गए और मोमिन बच गए क्यों अल्लाह ईमान वालों का तो मौला है मगर काफिरों का मौला नहीं है हर के कायनात दूसरे मकाम पर फरमाता है बरुद्दू इल्लाह मौला हक और काफिरों को लौटाया जाएगा अपने हक मौला की तरफ काफिरों को अपने हक मौला की तरफ लौटाया जाएगा तो अब इस आयत में यह साबित हुआ कि काफिरों का भी मौला है और वो अल्लाह है और वो हक है बरुद्दू ही मौला हक उनको अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा और मौला की तरफ लौटाया जाएगा वो मौला जो उनका हक मौला है अब ये दोनों आयात कुरान मजीद की है और एक जगह ये आ गया कि काफिरों का कोई मौला नहीं और दूसरी जगह ये है कि काफिरों का भी मौला है दोनों सही है अब तर्जमा करते हुए सिर्फ तर्जमे की तरफ देखा जाए और कोई शख्स पुराने मजीद बुरहान रशीद को पेश करता हुआ पुराने मजीद में माजल्ला दारू जहर करना चाहे और खुद इस तरह की खराबियां आगे वो अपने फन के मुताबिक समझ के बयान करने की कोशिश करे तो पुरानी मजीद की आयत का तर्जमा करते हुए वो ये सब कुछ कर सकता है लेकिन हम उसको मफहूम पर वारदात नहीं करने देंगे हम जिस वक्त कुरान मजीद के मंशा और मर्जी को देखते हैं उसलूब को देखते हैं आयात को देखते हैं तो पुराने मजीद में कोई कारज नहीं कोई इख्तलाफ नहीं कुरान मजीद सच्ची बात कर रहा है यह भी ठीक है कि काफिरों का कोई मौला नहीं और यह भी ठीक है कि काफिरों का मौला मौजूद है मौला के दो माने हैं एक है मौला बमाना मालिक एक है मौला बमाना नासिर हर के कायनात ने जो नफी की कि काफिरों का कोई मौला नहीं तो अल्लाह तबारक बताला ने यहां मौला से मुराद मालिक नहीं लिया अल्लाह तबारक बताला ने मौला से मुराद नासिर लिया फरमा फुला फिर कौन भी मर गई फुला मर गई फुला तबाह बर्बाद हो गए फुला नेस्तो नाबूद हो गए क्यों इस वास्ते कि मैं उनका मालिक होने के बावजूद मेरा उनसे प्यार नहीं था मैं उनका नासिर नहीं था मैं उनका मुहिब नहीं था अगर चे पैदा मैंने उनको गिरिया अगरचे खाने को मैं देता था वो मेरे ही ममलूक थे मगर मैं उनका इस लिहाज से मौला नहीं था कि मैं उनकी मदद करने को तैयार हो जाता वो मेरे मिल्क में है जहां नफी की कि खाल के कायनात ने कि मैं उनका मौला नहीं हूं फरमाया मैं उनका मददगार नहीं हूं उनका नासर नहीं हूं मौला मालिक होने के लिहाज से जरूर हूं और मोमिन वो है जिनका मौला दो एतबार से हूं मालिक भी हूं और मुझे उनसे प्यार भी है मैं उनकी मदद करता हूं उनको तनहा नहीं छोड़ता मैं उनके सामने हार हो जाता हूं मेरी रहमतें उनको ढांप लेती है काफिल जो है उनका मौरा सिर्फ इस लिहाज से हूं कि मैं उनका मालिक हूं मेरा उनसे कोई प्यार नहीं है मोमिनों का मौरा हूं इस वास्ते कि उनका मालिक भी हूं उनका नासिर भी हूं अब कुरान मजीद की दोनों आयात का मफहूम सही है जब ये कहा गया वरुद्दू इल्लाह मौला उमुल हक कि उन्हें हक मौला की तरफ काफरों को लौटाया जाएगा तो यहां पता चला कि यहां मौला से मुराद मालिक है और जहां यह फरमाया कि ला मौला लहू काफरों का कोई मौला नहीं वहां मौला से मुराद नासिर है हर के कायनात ने एक ही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है और वो लफ्ज हमारे उर्फ में आम बोला जाता है मगर जब मफहूम की गहराई की तरफ गौर किया जाएगा तो फिर हिदायत मिल सकती है वरना इन्हीं आयात को पेश करके दहरिए और परवेजी और इस किस्म के लोग पुराने मजीद में तारो जहर करके हमारे सामने कई गुमराहियां बना के पेश कर सकते हैं हर के कायनात का उसलूब देखिए फरमाया कभी अन्ना मौल आमनू और अल्लाह ईमान वालों का मौला है और हर के कायनात ने काफिरों के मौला की नफी कर दी और ईमान वालों के मौला होने का अपना इजहार किया और इस कदर इजहार किया फरमा ईमान वालों का मैं ही नहीं मेरे जो मोमिन हैं मैंने उनके और भी मौला बना दिए हैं काफिरों का कोई मौला नहीं काफिरों का कोई मौला नहीं और तुम्हें मौला बनाना मालिक तो मैं हूं मगर काफिरों का कोई नास्तर नहीं और मोमिन कौन है ईमान वालों का मैं भी मौला हूं मैं इन अल्लाह हुआ मौला हो जिबरील हो वह साले हो जो मेरे मानने वाले हैं उनका मौला मैं भी हूं जिबरील भी उनके मौला है और मेरे वली भी उनके मौला है यहां पर अब मौला माना मालिक को तो नहीं किया जा सकता मौला माना नासिर होगा हर के कायनात फरमा रहा है काफिरों का कोई नासिर नहीं मोमिनों का नासिर मैं भी हूं मेरे बंदे भी हैं मेरे वली भी हैं जिब्रील भी हैं मैं इनका नाशिर हूं जो मुझे मानने वाले हैं और मैंने इनके लिए और भी अपनी तरफ से कई मौला बना दिए हैं मोहतशम सामिन हजरत कुरान मजीद बुरहान रशीद को समझने में एक बात यह भी पेश नजर रखनी चाहिए अगरचे वो कोई मफहूम की वारदात नहीं किसी की तरफ से लेकिन एक मुगारता जरूर है कि हर शख्स जिस वक्त वो कुरान मजीद की बात करता है तो कहता है वालकद यस्तर नल कुरान अली जिक्र हर मिन मुद्दकिर हर के कायरात ने फरमा दिया है हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया है है कोई इसको पढ़ने वाला अब इसको कुछ लोग इस उसलूब में बयान करते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए ये ग्रामर ये सर्फ नहब ये उसूल ये सारी ये सोलह उलूम या इस किस्म की ये चीजें तो कोई जरूरी नहीं है हर के कायनात ने बस फरमा दिया है कि हमने इसको आसान कर दिया है है कोई इसको पढ़ने वाला अब इस उस उसलूब में इस आयत को बयान करके कुरान मजीद की तरफ जिस हद तक बंदे को कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए उसमें कुछ फर्क आ जाता है और एक सकी सी बात हो जाती है कि बाकी चीजें तो मुश्किल है उनको समझने के लिए मजीद इस्तेदाद की जरूरत है अब इंग्लिश पढ़नी हो तो टेंस भी आने चाहिए मगर पुराने मजीद तो सती सी चीज है जो पढ़ेगा वही इसको आ जाएगी इससे कुरान मजीद की जो अपनी हैसियत है उसमें फर्क आता है ये आयत भी असल में इसका यह तर्जमा नहीं है वलाकद यशरनल कुरान जिक्र जिक्र से मुराद क्या है बुखारी शरीफ में इसका तर्जमा क्यों किया गया जिक्र से मुराद हजरत मुजाहिद कहते हैं इसका माना है हम बनना हो लिल किरा हमने इसको पढ़ना आसान कर दिया है तो इसको याद करने वाला यह तर्जुमा इसका हमने पुराने मजीद को याद करना आसान कर दिया है तो इसको याद करने वाला यानी सारी किताबों में से इसका ये एजाज है जितने हाफिज इसके हैं इतने हाफिज किसी किताब के नहीं बाकी आसमानी किताबों को याद करने वाले खुद वो सीने हैं जिन पर वो नाजिल हुई अंबिया रुसल में याद करते रहे ये पुराने मजीद का एजाज है कि सार के कायनात फरमाता है मैंने हिफज के लिए इसको आसान कर दिया है है मेरे कुरान को कोई हिफज करने वाला अरे गौर करना बुखारी शरीफ में किताब तफसीर है उसमें बाप बालक यस्सर नल कुरान अली जिक्र पर हल में मुद्दा फिर ये उनवान देकर उन्होंने ये तफसीर की हम बन ना हो लिल किरा आते हमने इसको किरात के लिए आसान कर दिया कि इंसान याद करना चाहे तो ये ऐसा नहीं कि याद ही ना हो ये फौरन याद हो जाता है हमने इसको इस तरह बनाया है इमाम महली इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं सहल ना हो लिल हिफ्स हमने इसको हिफ्ज के लिए आसान कर दिया है ये कुरान मजीद की इस तर्जमे पर गाही मौजूद है कि दुनिया में हजारों लाखों हुफाज कुरान मजीद के मौजूद है मगर दीगर किताबों का कोई हाफिज भी नहीं मिलता इस रास्ते के खाल के कायनात फरमाता है हमने इसको हिफज करने के लिए और याद करने के लिए आसान कर दिया है लिहाजा आओ मेरे पुराने मजीद को हिफज करते जाओ और याद करते जाओ ये इसका असली मतलब है वरना अगर ये हो कि पुराने मजीद को समझने के लिए किसी बड़ी अकल की जरूरत नहीं और किसी बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं और हमने आसान कर दिया है और जो चाहे जिसको कोई इस्तेदाद नहीं है कोई सलाहियत नहीं है और जैसे चाहे वो मुस्तह बन के तर्जमे करता थे और जो जो चाहे करता थे अगर ये बात होती तो के कायरा दूसरे मकाम पर यह क्यों फरमाता दिल कलम साल नद्रिबुहालिन्नास वमा या लोहा इल्लल आलिमून तिल कलम साल नद्रिबुहालिन्नास फरमा हमने ये कुरान मजीद की मिसालें लोगों के लिए बनाई है लेकिन वमा या कि लोहा नहीं समझते इनको इलामूल मगर वो जिन्होंने इल्म हासिल किया है समझना इनका बारीकी जिसकी किताब अंसल नाहू इलई का मुबारक लियदब्बरु आयात ही वालियत फरमा है सबके लिए हर कोशिश करे और इसमें इसके लिए फिर सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी आगे बढ़ना पड़ेगा फरमाया हमने आसान कर दिया हिफ्स करने के लिए याद करने के लिए बमा या के लोहा आलिमून लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वो आलिम को ही आ सकेंगी जो जानने वाला है जो इल्म हासिल कर चुका है जिसने कोशिश की है खाल के कायनात जल्ला जलालू उसको इसकी बारीकियों और लताफतों का पता आता फरमा देगा अगर सरसरी सी चीज होती तो सती सी बात होती खालके कायनात क्यों बार बार दावत देता लियता जक्काउल अलबा लियत तब्बरू तदब्बर करो सोचो गौर करो तफक्कुरो सातिन खैर मिन इबादत सनातिन जो एक लम्हा के लिए सोचेगा एक साल की बंदगी का उसको स्वाब मिल जाएगा खालके कायनात में इतना कुछ रखा है कि ये महज क्षति समझ आने वाला नहीं था हिदायत इसकी आम है अगर ऐसी बात होती तो सही इतना और रजी अल्लाह हो सिर्फ बकरा पढ़ने में बारह साल ना गुजारते हैं तालामा उमर बकरा था इसनत आशरा सनतन बारह साल उनको लग गए सिर्फ बकरा समझते हुए पता चला कि ये है बड़ी आसान हाँ। मतलब क्या है कि जो इसकी तरफ बढ़े उसको महरूम नहीं करती हिस्सा जरूर अता फरमाती है मगर यह समझ के रुक चाहो कि हमें उस उलूम की जरूरत नहीं है ये वैसे ही आसान है वैसे ही समझ आ जाएगा अगर इतना ही ज्यादा आसान था तो हजरत उम्र रजी अल्लाह तला को बारह साल लगाने की बकरा में क्या जरूरत थी ये इसका हकीकी माना है ये भी मैंने मुकाबिल किया यार आपके सामने पेश करके इसका मफहूम बाजे किया एक तरह वर्ग अब यस्तरनल कुरान अली दिख और दूसरी तरफ बमा या किलोहा इलामून तो दोनों का मतलब ये बना कि हमने इसको हिस्स के लिए आसान कर दिया है और जो इसके मानी आखिरी हद तक समझना चाहता है और पूरी तरह इसमें वो उबूर हासिल करना चाहता है इसको पढ़ना पढ़ना शुरू कर दे कोशिश करता जाए कोशिश करता जाए इससे किसी को रोका ना जाए मुश्किल कह के डराया ना जाए मगर उसको ये शौक भी दिया जाए तरकीब भी दी जाए कि ये ऐसा समंदर है जिसको अबूर करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत है दूसरा माना अगर किया जाए वाला कद नल कुरान अली जिक्र पहल में मुद्दकिर कि हमने दूसरा माना इसका यह किया गया हम ना हो लिल मोजा कि हमने इसको तैयार ही नसीहत के लिए किया है है कोई जो इससे नसीहत पकड़े हमने तैयार नसीहत के लिए किया है मतलब यह है कि जो नसीहत के लिए आएगा यह कुरान ऐसा नहीं कि अपनी नसीहत को रोक ले अपनी हिदायत पर पहरा लगा ले जो भी इसकी तरफ बढ़ेगा हल्के कायनात ने तैयार ही इसको इस बात के लिए किया है लिहाजा जू ही वो यहां पहुंचेगा कुरान अपनी हिदायत से उसके दिल को मामूल फरमा देगा हमने इसको आसान किया है अगर ये मतलब ले तीसरे नंबर पर माने को आसान किया है तो ठीक है मैंने ये कहता कि ये माना गलत है लेकिन असली वो था अगर ये माना हो तीसरा कि हमने इसके माने को आसान किया है तो मतलब ये है कि कुरान मजीद ऐसी चीज नहीं कि जो पढ़ने से आए ही ना और आदमी जो है वो नावी होकर पीछे बैठ जाए हल्के कायनात फरमाता है हम इसके माने में भी ऐसी लताफत रखी है ऐसी बारीकी रखी है कि जो पढ़ने की कोशिश करता है वो माना उसको आ ही जाता है अब ये एक मुगालता था जो आम आज हमारे यहां एक ऐसे इसको उसलूब में बयान कर दिया जाता है कि जिस वक्त कोई शख्स पुराने मजीद से बात कर रहा हो उसे कहा जाए कि तुम ये बात पुरा कानून के खिलाफ कर रहे हो फुला फन के खिलाफ है फुला उसूल के खिलाफ है तो वो कहता नहीं कुरान मजीद आसान है इसको पढ़ने के लिए उसूलों की क्या जरूरत है अल्लाह फरमाता हमने आसान कर दिया है तो ये उसको हर उसलूब में बयान किया जा रहा है हर के कायनात ने इसे और लिहाज से आसान फरमाया है अब देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक पूरे कुरान मजीद का नचोड़ बयान करते हुए बहुत से कोर्सेज में और बहुत से मवाके पर कुछ लोगों ने यह वतीरा बना रखा है कि वो सारे पुराने मजीद से ये खुलासा निकालते हैं कि बुतों में और पैगंबरों में कोई फर्क नहीं ये खुलासा है और इसको वो आयात की रोशनी में बयान करते हैं वो कहते हैं मिसाल के तौर पर वो सारी आयात मेरे सामने है सूरह फुरकान में है वत्ताकू मिंदून ही आलिहा काफिलों की बात है कि उन्होंने अल्लाह के सिवा आलिया को पकड़ लिया ला यखलकू नशई वहम युखलकून वो आलिहा जिन्होंने किसी को भी पैदा नहीं किया और खुद पैदा किए गए हैं काफिरों ने इस किस्म के बुत जो है अपने महबूद बना लिए अल्लाह फरमाता वो कैसे बुत है ला यखलुकू न छैया बहु युखलकून वो खुद तो कुछ चीज पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं ये तारीफ करते हुए और इस तरह की आयात पेश करते हुए यह समझाया जाता है कि जैसे ये हैं में लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है बुतों की आयात और इस तरह बुतों की ये जो अलामत है उनको बयान करते हुए यही अलामत अल्लाह के बंदों में बनाकर इन दोनों को एक करके फिर जो बुतों का मानने वाला है और जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला है इन दोनों को माज अल्लाह एक ही साथ में खड़ा कर दिया जाता है यह भी इन आयात के मफहूम पर वारदात की जाती है कैसे अब खल के कायनात ये फरमा रहा है ला यखलुकू अशैया शैया बुत कोई शय पैदा नहीं कर सकते और अगर बुत और अल्लाह के बंदे एक जैसे ही हैं तो फिर खाल के कायनात इस फरमान का मतलब क्या होगा हजरत ईसा ने फरमाया अन्नी अखलुको मैं पैदा करता हूं अन्नी अखलोको लकुमिन तीन कही या तैर फन फी है मैं परिंदे की सी शक्ल बनाऊंगा और उसमें फूंक मारूंगा फयकून तयरम बीजनिल्ला अल्लाह के इजन से वो परिंदा बन जाएगा बुद्ध का बुद्ध की अलामत सर अल्लाह ने यह बताई ला ना शैया वो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते और अल्लाह के पैगंबर का मनसब यह बयान हो रहा है वो खुद कहते अन्नी आख लोको लकुम लोको वह मुतकलम का सीगा है जिसका माना मैं पैदा करता हूं लकुम तुम्हारे लिए मिनत तीन मट्टी से मैं पैदा करता हूं अब बुत जो है वो कुछ पैदा नहीं कर सकता और अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के इजन से पैदा कर लेता है अगर ये दोनों एक ही होते तो फिर हल के हर गिज अल्लाह के पैगंबर की इस इख्तियार को कुरान मजीद में जिक्र ना करता अब वहां पर काफिलों की बात है बुतों की बात है ताहूत की बात है उनके बारे में फरमाया ला यखरुकून शैया वो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते वो खुद झूठे हैं उनको मानने वाले झूठे हैं अब अल्लाह तबारक वाली ने उसी के साथ फरमाया ये तो कुछ नहीं कर सकते मैं इतना बड़ा मौला हूं मैं चाहूं तो अपने बंदों को भी पैदा करवा लेता हूं અન્ની અહલકો લકુ મિના તીન તહિયત તૈર મે બટ્ટી સે પેદા કરતા હું ઉસમે રૂ ફૂંકતા હું ઓર સાત ફરમાયે યે હૈ સબ કુછ મેરે અલ્લાહ કા ફઝલ હૈ ફયકુનુ તૈરા બિઇઝનીલ્લાહ વો અલ્લાહ કી ઇઝત સે પેદા બન જાતા હૈ pata chala khalki kaylat ne agar che in महबूद नहीं बनाया इन पैगंबरों और औलिया को किसी माना ने भी अलूहियत अताफ नहीं फरमाई लेकिन खालिक कायनात ने इन बुतों के साथ नहीं मिलाया वक्त और है ये और है उनके बारे में यह फरमा ला यखलकून शैया वो कुछ पैदा ही नहीं कर सकते और ये वो है अल्लाह के इजन से पैदा कर लेते हैं मोहतशम सामी हजरात आप देखिए ला यमलिकून अनफुसिहिम दर्रम वला नफा वो अपने लिए ना नफे के मालिक हैं ना नुकसान के मालिक हैं यह आयत बुतों के बारे में है अब इसे औलिया के बारे में पढ़ा जाता है यही आयत अल्लाह तबारक बताला के मुकर्रबीन के बारे में पढ़ी जाती है और फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद को समझने के लिए अब देखें नबी अक्रम सल्लाम खुद भी फरमा रहे हैं कुल्ला अमले कुल नफसी नफ आऊ वाला दौरा मैं अपने नफ्स के लिए ना नफे का मालिक हूं ना नुकसान का उसी के साथ मिला के ये पढ़ दी जाती है ये आराफ की है फिर ये कहा जाता है खुल्ला अमले को ले नफसी दर्रा वाला नफा मैं अपने लिए किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं अब ये तीन आयात कोई शख्स मिला के पढ़ रहा है ला यम लेकून अनफो से हिम दर्रा वाला नफा कि अल्लाह का कुरान कहता है कि बुत ना नफे के मालिक है अपने लिए और ना नुकसान के मालिक है और साथ ही ये सरकार के बारे में जो आयात आई हुई है कुल्ला अमले कुल नफसी नफा वाला धर्रा इनको मिला के पड़ता है कि सरकार कहते हैं कि मैं भी नफे नुकसान का मालिक नहीं तर्जमा ये करते हुए उसका मतलब क्या है वो माजल्ला बुतों के साथ रसूल अक्रम सल्लम को मिलाना चाहता है और जो कुछ उनके बारे में है वो इन्हीं के बारे में साबित करना चाहता है और जो उनके मानने वालों की बात है वो इनके मानने वालों की बात करना चाहता है अब कुरान मजीद बुरहान रशीद की ये आयात मैंने पढ़ी है अभी मैं अर्ज करूंगा कि कितना ज्यादा फर्क है आयात ठीक है मगर फर्क इतना है जितना फर्क जमीन व आसमान से भी ज्यादा होता है जाहिर एक ही बात हो गई ला यमलिकून अलियनफुसहिम दर्रम वला नफा ये सूरह फुरकान है यह किसकी बात है बुतों की कि वो अपने लिए ना नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है फिर सरकार की बात कुल्ला हमले को ले नफसी नफाओं वाला बर्रा मैं अपने नफ्स के लिए नफे नुकसान का मालिक नहीं अब ये आयात दोनों सच्ची हैं मगर देखिए अल्लाह ने कितना फर्क रखा है हल्के कायनात ने जहां उनकी बात की है वहां इल्ला माशाह अल्लाह नहीं फरमाया और जहां इनकी बात की है वहां इल्ला माशाह अल्लाह फरमाया है कितना फर्क है जितना ला इला के बाद इल्ला कहने में फर्क है जब आपने कहा कोई खुदा नहीं तो हर एक की नफी गई अगर इल्ला ना पढ़ा जाए तो अल्लाह का सबूत कैसे हो सकेगा ला इलाहा के बाद जब इल्ला आता है तो फिर खाल के कायनात की रूहियत का सबूत होता है अल्लाह तबारक वाली ने अपने महबूब के बारे में जब फरमाया तो दोनों जगह पुराने मजीद में इला माशाला के अल्फाज मौजूद है मेरे महबूब इनको कह दो मेरे सिहावा और दुनिया वालों मैं अपनी जान के लिए खुद किसी नफे का मालिक नहीं हूं मगर जिस नफे का मालिक मेरा खुदा मुझे बना रहा है कितना फर्क था जिसको छुपा दिया गया बुद्ध के बारे में इला माशाला नहीं है उसे कुछ मिल नहीं सकता वो अपने लिए भी किसी चीज का मालिक नहीं है वो मुख्तार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है मगर महबूब सलाम को कहा गया मेरे महबूब इन्हें ये फरमा दो मेरे पास जो सब कुछ है ये खाली हाथ में दो जो जहां की नियमतें हैं ये हाथ उठता है तो दामन भर जाते हैं ये उंगली उठती है तो चांद झुक जाता है ये जो कंकरियां टलना पड़ती है ये कुछ खजूरों पर जो फल आता है डालने वालों मैं अपनी तरफ से नहीं देता मेरा खुदा मुझसे दिलवाता है कोई आयात पढ़ता रहे तो वो ये कहने में तो सच्चा है कि मैं आयात पढ़ रहा हूं और तर्जमा जो करेगा जहां तक पढ़िए ये भी सच्चा है कि मैं ये बात कर रहा हूं लेकिन देखो फर्क कितना है इन अल्लाह में जो अल्लाह की तोहीद है और उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहेगी सब कुछ आ गया है ऐसे ही सरकार फरमाते हैं मैं आप कुछ भी मालिक नहीं हूं मगर सब कुछ उसका दिया हुआ है ला अमले कुल नफसी नफा वला दर्रन इला माशा मगर जो खुदा चाहे मैं उसका मालिक हूं जो खुदा चाहे मैं उसका अपने लिए मालिक हूं जो खुदा चाहे मैं उसका अपने फायदे के लिए मालिक हूं और ये वो महबूब है अपने से पहले गुलामों का फायदा पहले सोचते हैं जब कुरान मजीद ने यह साबित कर दिया कि अपने फायदे के अल्लाह के कहने पर और अल्लाह की मशीयत पर और इस इस्तना की वजह से मालिक हैं लिहाजा जो उनका नाम लेने वाले हैं उनके फायदे बेहतरीन उन्हें अता फरमा सकते हैं अब देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में हजरत ईसा सलाम वो अपना मकाम बयान कर रहे हैं क्या उब्रियल अकमहा वलबरसा वोहिल मोताब इजनिल्ला उब्रियल अकमहा मैं अकमह को सेह देता हूं अबरस अकमा है मादर जादंदा जिसकी आंखों की जगह ही ना हो और अबरस है कोर का मरीज मैं इनको क्या देता हूं इनको सेहत देता हूं सेहत फायदा है ना सेहत फायदा है अब देखिए कुरान मजीद का उसलूब बुद्धों के बारे में कहा गया बुद्ध ना नफे के मालिक हैं ना नुकसान के मालिक हैं और अल्लाह के पैगंबर बुद्ध नहीं है वो नफा भी देते हैं नफा देते हैं और ना मानने वालों को नुकसान भी दे सकते हैं नफा कैसे देते हैं अब जिसकी आंखों की जगह ही ना हो उसकी जगह बना के आंखें लगा दी जाए तो नफा है या नहीं है तो कुरान कह रहा है कि ये नफा अल्लाह के पैगंबर देते हैं पता चला वो बात औरों की है ये मकाम औरों का है बस जो है वो ना अपने नफे के मालिक हैं ना किसी के नफे के मालिक हैं और अल्लाह वाले अल्लाह की आकाश है अपना भी नफा कर लेते हैं अपनों का नफा भी कर लेते हैं और फिर वही आयत फुरकान की ला यमलिकून मौतों वाला हयातों वाला नशूरा उनको तो ये तोफीक नहीं होगी कि ये बता सके कि ये बुतों के बारे में है ये तो मैं कह रहा हूं और अल्लाह के कुरान में हकीकत यह है कि बुतों की बात हो रही है वो तो बरह इसको अलिया पर पढ़ देंगे और बरह रात अंबिया पर पढ़ देंगे हर के कायनात फरमा रहा है कि उन मुशरकिन मक्का ने मेरे सिवा महबूद बना लिए वो महबूद कैसे हैं अल्लाह तबारक वाली फरमाता है ना वो मौत के मालिक हैं ना वो हयात के मालिक हैं मोहतम सामिन हजरात मैं अपना मोहतम सामिन हजरात अब मेरी बात की तरफ भी तोज्जो रखना कुरान मजीद में बुतों को कह दिया गया कि वो मौत हयात के मालिक नहीं और उधर हजरत ईसीम कहते हैं उहिल मोता मुर्दों को मैं जिंदा करता हूं मुर्दों को मैं जिंदा करता हूं वो बात थी बुत की और उहिल मोता यह बात है अल्लाह की महबूब की खल के कायनात ने फरमा बुत तो कुछ भी नहीं कर सकता वो मौत का मालिक नहीं वो हयात का मालिक नहीं और फरमाया हजरत ईसा सलाम ने उहिल मौता बीजनिल्ला जिंदा मैं करता हूं मगर अल्लाह के इजन से करता हूं यानी बुद्ध बुद्ध कभी भी कुछ अल्लाह के इजन से नहीं कर सकता वो कहीं कुछ नहीं सकता और ना अल्लाह उसको इजन देता है ये अल्लाह ने फर्क कर दिया फरमाया वो कुछ नहीं कर सकते उनका बाब अलहदा है कभी भी मेरे बंदों को उनमें शामिल ना करना जिन चीजों की नफी मैंने उनसे की है वही बातें मैंने इनसे करवाई हैं ताकि बंदों को पता चल जाए अपने और हैं और पराए और हैं शम शामिल हजरात पुराने मजीद बुरहान रशीद में एक बात मजमून बयान करते हुए यूं की जाती है कि काफिर कहते थे हसबुना मा वजदना अलही आबाना हमारे लिए वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने आबा को पाया वो मा अल्फीना आबा आबाना हम ये नया दिन नहीं मानते अपने आबाव अजदाद की बात मानते हैं ये मुशरकिन मक्का के कुफार के कौल मौजूद है ये ठीक है बात आज जिस वक्त कोई शख्स किसी सुन्नी और मसलक इंसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वो कहता नहीं हमारे आबाव अजदाद इसी दिन पर आए हैं और ये बर सगीर पाप हिंद की जो खमीर है इसमें इसमें तसवुफ भरा हुआ है इसमें हनफियत भरी हुई है इसमें सुन्नियत भरी हुई है मैं तो पुश्तों से इसी मसलक पर आ रहा हूं तो वो जवाब में ये आयत पढ़ते हैं हसबुना मा वजदना लही आबाना ये तुम क्या कर रहे हो ये तो कुफारे मक्का कहते थे आप अक्सर इस बात के गवाह होंगे यानी इस तरह करके आज लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और आयत पढ़ के आयत पढ़ के माजल्ला इन पक्के मोमिनों पर हमला किया जा रहा है और मुकदस अकीदे को लूटने की कोशिश की जा रही है आयत पढ़ के इस बात को और इस नजरियों को बयान करके कि बाप दादा के दीन पर रहना और उसी की बात करना और उस पर डट जाना और अट जाना ये पुराने जिद्दियों और काफिरों का मकूला है और उनकी बात है तुम्हें तो हमारी बात माननी चाहिए और जो पहला हजरत बाबा फरीद और दाता गंज बख्श वाला तरीका उसको छोड़ के हमारी बात को तस्लीम कर लेना चाहिए ये सब कुछ वारदात आयात पेश की करके की जा रही है तो मैं कहता हूं पुराने मजीद बुरहान रशीद की आयात का यह मकसद नहीं है कि अगर कोई शख्स अच्छे रास्ते पर उसके आबा थे और अच्छे रास्ते पर उसके अजदाद थे तो वो भी अपने अच्छे आबा की हिदायत का हवाला किसी को ना दे और उसको भी ये ताना दिया जाए कि छोड़ो अपने बाप दादा वाला मसले और इस नए मसले को कबूल करो कुरान मजीद की हर चीज ये मर्जी नहीं है क्योंकि कुरान मजीद ने खुद अपने अच्छे आबा के रास्ते पर चलने का हुक्म फरमाया है अम तुम तुम शुहादा इज हादारा याकूब अल मौत हल्के कायात फरमाता है क्या तुम गवाह हो उस वक्त जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसार का वक्त करीब था उन्होंने अपने इस कार बनी है उन्होंने बेटों से कहा माता बुदू निम्बादी मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे तो उन्होंने क्या जवाब दिया तकलीद वाला तकलीद वाला ना तो दो हम इबादत करेंगे इलाहा का तुम्हारे खुदा की वह इलाह आबाए का तुम्हारे बाप दादा के खुदा की हम अपने आवाज दाद वाला रास्ता नहीं छोड़ेंगे हजरत याकूब सलाम हम जो आप रास्ता हमारे आवाज अजदाद का है हम उसको नहीं छोड़ेंगे हम उसी पे चलते रहेंगे जब सच्चा तरीका पीछे आ रहा है अबाव अजदाद वाला तो उस पर यह ताना देना यह पुराने मजीद की आयत के साथ खिलाफ वर्जी की जा रही है क्या हजरत यूसुफ सलाम को यह पता नहीं था जब उनसे पूछा गया तो कुरान मजीद में है उन्होंने कहा वत्तबा तो मिलता आबा लोगों मैं अपने वालदेन और अबा अजदाद की मिल्ल जानने वाला हूँ बदतबा तो मिलत आबाई मैं उसकी इतवा कर रहा हूँ जो मेरे आबा का तरीका है जो उनकी जमात है जो उनका मसलक है जो उनका दीन है जो उनकी तर्ज है मैं उसको अपनाने वाला हूँ लिहाजा कुरान मजीद बुरहान रशीद इस बात को वाजे कर रहा है कि ये आयत मुशरकों के बारे में है वो तास्तों के बारे में है मोमिनों के बारे में नहीं वो काफिर वो मदीना मक्का शरीफ के काफिर जो है उनकी मजम्मत की गई कि वो डटे हुए हैं अपने काफिर अभाव अजदाद पर ये मुसलमानों की बात नहीं इन्हें तो फख्र करना चाहिए कि हमारी कई पुश्तें इस्लाम में गुजरी हैं और हम उसी रस्ते पे चले जा रहे हैं कैसी लज्जत आती है उस बंदे को जो ये कहता है मैं उस रस्ते पे जा रहा हूं जिस पे सबसे पहले मेरे महबूब सलाम चले फिर सैयदना सिद्दीक अकबर चले फारूकी आजम चले उस्मान गनी चले हैदर कर्राब चले तलाउ जुबैर चले साद और सईद चले वो बू सलमान चले हजरत हुसैन चले नोमान बिन साबित चले फजल खैर आबादी चले अमर रजा बरेली चले दाता गंज हजरेरी चले लिहाजा हम उनका नाम लेते हुए उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं मोहतम सामी हजरात फिर देखो एक मसला शिफात मफहूम बिगाड़ के पेश किया जाता है कुरान मजीद की आयात की आड़ में उससे ज्यादा की जा रही है कुरान मजीद की आयात जो बुतों के बारे में है और व्रत के बारे में है वो खींच कर इन मोमिनों के बारे में पड़ी जाती है कि अल्लाह तला ने फरमाया है सूरह मुद्दसर में है फमालना मिन शाफीन हमारा तो कोई शाफे ही नहीं है फमा तनफा शफात उन्हें शफात करने वालों की शफात फायदे ही नहीं देगी अमित तफजू मिंदून दून शफा क्या उन्होंने अल्लाह के अल्लाह को छोड़ के शफा बना लिए सफाशी बना लिए कुल शफा तो जमिया महबूब कह दो शफात सारी अल्लाह की है अब ये चार आयात मैंने पढ़ी ये चार आयात मुसलमानों के मजमा में पड़ी जाती है और मुसलमानों को कोसा जाता है खुदा की कसम इन आयात में से एक भी ऐसी नहीं जिसमें एक फीसद भी यह इस्तेमाल हो कि वो किसी मुसलमान के बारे में है हर आय से पहले बाजे तौर पर काफिरों का जिक्र मौजूद है वो काफिर जो हैं वो कहेंगे और उनके बारे में कहा गया फमा तनफाहम शफात शाफीन किसी काफिर को किसी सिफारशी की सिफारिश कोई फायदा नहीं दे सकेगी काफिर कहेंगे मालाना मिन शाफीन हमें क्या हो गया है हमारा तो कोई शाफे ही नहीं है हमारा तो कोई सिफारशी नहीं है अमित मिन दून शोफा खाल के कायनात फरमाता है इन्होंने अल्लाह को छोड़ के अपने सफाशी बनाए हुए हैं जिनकी ये बातें कर रहे हैं अल्लाह ताला फरमाता कुल शफा तो जमिया किसी वक्त की कोई सिफारिश नहीं शफात सारी अल्लाह की है बहुत स्वामी हजरत बड़ी बारीक बात है एक तो ये कि किसकी सिफारिश की नफी है कि जो शफी नहीं बन सकेगा एक ये कि किसके बारे में शफात कबूल नहीं होगी और एक ये कि सफात के कबूल करने का जो अकीदा रखता है वो कौन है तीन बातें जरूरी है समझना इन आयात की रोशनी में सबसे पहले ये बात कि सिफारिश क्या किसी की अल्लाह की बारगाह में मानी भी जा सकती है या नहीं फिर किसके बारे में मानी जा सकती है और जो ये अकीदा रखता है उसके बारे में हुक्म क्या है ये तीनों बातें सामने लाएंगे तो फिर इन आयात का मफहूम साबित होगा और अगर वो बातें सामने ना हो और फिर इनको मुतलकन पड़ा जाए तो फिर मफहूम पे वारदात हो जाएगी पहले ये समझे कि किसी बुत को शिफात हासिल नहीं है कि वो किसी की सिफारिश करे किसी काफिर की सिफारिश नहीं हो सकती और इनके बारे में सिफारिश का अकीदा रखना भी गुना है मोमिन की सिफारिश हो सकती है अल्लाह वाले अल्लाह की बागा में सिफारिश करेंगे और ये अकीदा कुरान मजीद का एन हक अकीदा है कैसे खाल के कायनात फरमाता है मनजी यशफाऊ इंदहू इल्ला बेजनी कौन है जो अल्लाह के पास सफारिशें करे कौन है बना कोई नहीं इल्ला बेजनी मगर वो जो इजन वाले हैं और कोई नहीं कह सकता कौन है जो करे यानी उसकी हैसियत क्या है किसी बुत की किसी ताहूत की कौन है जो अल्लाह के पास सिफारिश करे शफात करे फरमाया इल्ला इजनी हाँ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इजन के ताज पहना रखे हैं मामिन शफील दूसरी आय मामिन शफील इल्ला मिन बाद इजनी फरमा अल्लाह के पास किसी की क्या मजार है कि किसी मुजरम की सफायत कर सके हाँ फरमा अल्लाह की इजाजत पर कर लेंगे इल्ला मिन बाद इजनी उसके इजन के बाद पता चला वो पहली आयात काफिर के बारे में है और काफिर शफी के बारे में है और उन उस अकीदे के कोई सिफारिश करेगा ना उसकी मानी जाएगी और ना वो अकीदा रखना दुरुस्त है और मोमिन वो है हर के कायनात ने इनके लिए शफी भी बना रखे हैं इनकी शफात कबूल भी होगी और इस अकीदे को कुरान ने अपना अकीदा करार दे दिया है गौर कीजिए अब वो आयात पढ़ी जाए और मुसलमानों को सामने रख के ये बार बार रट लगाई जा रही है कोई उस दिन छुड़ा नहीं सकेगा कोई ये नहीं कर सकेगा कोई दस्तगीर नहीं है कोई हाजत रवा नहीं है कोई मुश्किल कुशा नहीं है कोई नबी नहीं है कोई वली नहीं है कोई कुछ भी नहीं है तो ये पुराने मजीद का कहा मजमून है पुराने मजीद ने यह कहा पत नहीं है ताहूत नहीं है अल्लाह ने जिनको इज्जत दिया है उनके झंडे लहरा रहे होंगे नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाह वसलम ने इशाद फरमाया बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में है पर मैं क्यामत के दिन मोमिनों को रोक दिया जाएगा जिस वक्त रुकेंगे वो दौड़ेंगे हमारी कोई सिफारिश करे सबसे होते होते मेरे पास पहुंच जाएंगे तो मैं कहूंगा आना लहा आज तो शफात के लिए मैं बैठा हूं मैं बैठा हूं ये कहने के बाद सरकारी शाद फरमाते हैं मैं अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचूंगा इजा रईत हूं वकात साजिदन जो ही मैं अल्लाह को देखूंगा तो मैं सईदे में गिर पड़ूंगा बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों की हदीस शरीफ वो शफात जिसकी बार बार नफी की गई कुरान मजीद में वो और की बात थी ये इजल वाले कहते हैं सरकारी साथ फरमाते मेरा अंदाज ये होगा मैं देखते ही खुदा को सजदे में गिर जाऊंगा यादा उनी माशा अल्लाह यादा आनी अल्लाह जब तक मुझे सईदे में देखना चाहेगा उस वक्त तक नहीं बोलेगा उस वक्त तक मुझे छोड़ेगा मैं सजदे में पड़ा रहूंगा फिर कहेगा या मोहम्मद इरफा है मोहम्मद उठो तो सही सर तो उठाओ सर तो उठाओ कुल तुष्मा बोलो बोलो जो बोलोगे वो सुना जाएगा बुखारी मुस्लिम के अल्फाज कुल तुष्मा आप बोले तो सही सर तो उठाओ कुल तुष्मा आप बोले सुना जाएगा वशफा तुशफा सिफारिश तो करो सिफारिश मानी जाएगी बशपा तुशपा सिफारिश करो सिफारिश मानी जाएगी फिर सल तोता सवाल तो करो जो सवाल करोगे अता कर दिया जाएगा बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस भी मौजूद है सरकार फरमाती है हशर के मैदान में सारी आंखें मेरी तरफ उठी हुई है हर एक मेरा मुंतजे है हशर के मैदान में जब सारे मेरी तरफ बढ़ेंगे और गुनहगारों का रोजे माशर शफी खैर अनाम होगा दुल्हन शफात बनेगी दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा इधर वो गिरतों को थाम लेंगे उधर प्यासों को जाम देंगे सिरा तो मीजान हौज कौशल यही वो अली मकाम होगा आना नहा के प्यासियों को लेंगे आगोशे मरहमत में अजीज अकलौता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा सरकारी शाद फरमाते मैं सर उठा लूंगा और मैं वो तस्वीर करूंगा जो खाल के काया उसी वक्त मुझे इल्हाम फरमाएगा और फिर अल्लाह तबारक वाली मुझे इजाजत देगा मैं कुछ लोगों को जहन्नम से निकाल लूंगा उनको जन्नती करार दे दूंगा और फिर सईदे में गिर पड़ूंगा फिर कहा जाएगा इरफा मोहम्मद सल कुल तुस्मा सल तोता वशफा तो शफा छाता उठाओ मांगो जो मांगना चाहते हो आप कहो तो सही सुना जाएगा सिफारिश तो करो सिफारिश कबूल की जाएगी सरकार फरमाते फिर सर उठाऊंगा अल्लाह की हमद करते हुए फिर बहुत बड़ी जमात निकाल के ले जाऊंगा तीसरी मरतबा फिर सजे में गिर जाऊंगा फिर हाल के कायनात यही फरमाएगा सर तो उठाओ बोलो तो सही मांगो तो सही किसे ले जाना चाहते हो सरकार फरमाते हैं उन सबको ले जाऊंगा जिनके दिल में मेरा कलमा मौजूद है सिर्फ वही रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोका है जिनको वो शिरक मारे मुशरक बाकी रह जाएंगे बाकी मैं ले जाऊंगा ये वो शफात है जिसको आज मुफहूम बदल के और तरह बयान किया जा रहा था खाल के कायनात ने फरमाया कुल दिल्ला शफात जमिया अल्लाह के लिए सारी शफात है ये बात भी अल्लाह इन्हीं की कर रहा है लोग इसको इस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि कोई शफात कर ही नहीं सकता हाँ वो कोई नहीं कर सकता जो बुत हो और ये जो है अल्लाह फरमाता है कुल शपात शफात जमीया सारी शफात है ही अल्लाह की बात काबिल गौर है शफात का मतलब है सिफारिश करना अल्लाह की सारी सिफारिश है अल्लाह ने किससे सिफारिश करनी है अल्लाह किससे सिफारिश करेगा कि इसको छोड़ दो अल्लाह की सारी सिफारिश है मतलब यह है कि अल्लाह के दिए बगैर किसी को मिल नहीं सकती करेंगे अल्लाह के बंदे ही अल्लाह की सारी सिफारिश है अल्लाह की सारी शफात है अल्लाह की अता से किसी को मिल नहीं सकती और अल्लाह की अता बुद्ध पे हो नहीं सकती लिहाजा खाल के कायरात फरमा रहा है ए को तुमने इन बुतों को क्यों शफी बना रखा है अगर शफात की जरूर है दरे रसूल पे आ जाओ क्योंकि शफात मेरी है और मैं जिन्हें दूंगा वो ही सिफारिश फरमा सकेंगे नबी अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाह वसलम ने इस मखहूम को कितने वादे अंदाज में बयान फरमा दिया सिहा में मौजूद है सरकार इशाद में फरमाने लगे मन कान लहू मिन उम्मती फरतान अद अल जन्ना सरकार का मकाम तो ऊंचा बड़ा भाइयों यहां जिसने उनकी गुलामी का पटा गले में डाला है वो भी सभी बना हुआ है बुखारी मुस्लिम सिहा में हदीस मौजूद है सरकार इशाद फरमाने लगे मेरी उम्मत में से जिसके दो फर्क हुए दो फर्क जिसके हुए खाला अद खलाह बेहिमा जन्नता हल्के कायनात उस बंदे को उन दो के कहने पर जन्नत का फरमा देगा फर्क क्या है फर्क किसी का वो बेटा या बेटी है जो बाले होने से पहले फौत हो जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वालों जो बाले होने से पहले फौत हो गए जिसके दो फौत हो गए वो ना घबराए जिस दरवाजे तभी वो खड़े होंगे या तो उनको इतना इल्म दे दिया गया कि हशर में तेरा वालिद किस दरवाजे पे पहुंच रहा है या फिर उसको हाजिर नाजर बना दिया गया है जिस दरवाजे पे पहुंचेगा वो सामने खड़ा होगा अरे बड़ा तो बड़ा रहा चार पांच साल का सरकार ने फरमाया इन सिकता ला मुरब्बा हूं वो कच्चा बच्चा भी अपने अल्लाह से झगड़ पड़ेगा कि या अल्लाह मेरी माँ क्यों दोजख में जाए यहां तक कि अपने नाफे से काम के माँ को जन्नत में ले जाएगा और बाप को जन्नत में ले जाएगा सरकार ने फरमाया जिसके लिए मेरी उम्मत में से दो फर्क हुए वो उसको जन्नत में ले जाएंगे अल्लाह उनकी बात मान लेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु ने जब यह फरमाया तो सैयद आशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहू फरकुन जिसके दो फरक ना हो एक हो एक बेटा फौत हो गया था या एक बेटी बाले होने से पहले फौत हो गई थी उसका क्या बनेगा तो सरकार ने फरमाया मन कान लहू फरक या मुआफा हजरत आयशा का ये वक्त बयान करते हुए ए नेकी की तोफीक दी गई और सवाल करने की तोफीक बख्शी गई खातून जिसका एक फर्क है वो एक ही उसको जन्नत में ले जाएगा हजरत आशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अनहा ने शायद अपने बारे में कहा या किस किस के बारे में कहा फरमाया मल लई सलहू फरकुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से जिसका कोई फर्क ना हो जिसके दो हो उसको दो ले जाएंगे और जिसका एक हो उसको एक ले जाएगा और जिसका एक भी ना हो तो सरकार ने फरमाया आना फर्क उम्मती जिसका कोई नहीं उसका मैं जो मौजूद हो <laughs> फर्क उम्मती अब फर्क का माना क्या है जो पहले जाकर बंदोबस्त कर रखे और पहले जाकर जगह को आबाद कर रखे के मेहमान पहुंचने वाले हैं पर मैं पूरी उम्मत का फर्ज मैं हूं पहले जाके जन्नत सजा रखूंगा और मेरे उम्मती बाद में पहुंच जाएंगे मोहत शम शामिल हजरा ये मैंने एक खाका मफहूम कुरान कुरान मजीद की आयात के तनाजुर में पेश किया मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जला हूँ इन अल्फाज को तासीर अता फरमाए मोहतम शामिल हजरा